Oh. का ध्यान ईश्वर की उपासना का अभ्यास करेंगे आज संध्योपासन के उपस्थान मंत्र में से उद्वयम तमसस्वरी स्व पश्यंत उत्तरम देवं देवत्रा सूर्य अगन्म ज्योति ही उत्तम वयम तमस परि अज्ञान अंधकार से परे स्व स्वयं सुख स्वरूप देवम देवत्रा देवों के भी देव उत्तम गुणों को धारण करने वाले सूर्यम चरा जगत चर जगत के प्रेरक अगन्मा प्राप्त होवें और ज्योति ही ज्ञान स्वरूप उत्तमम सबसे उत्तम को प्राप्त होने का अर्थ यहाँ पर है अनुभव में लाना ज्योति का अर्थ है ज्ञान स्वरूप जो ईश्वर सर्वोत्तम है उत्तमम सबसे उत्तम है ज्योति ज्ञान स्वरूप है देव और देवों के देव हैं देवम देवत्रा जितने भी दिव्य गुण हैं दिव्य पदार्थ हैं सभी के स्वामी हैं अथवा जो देव हैं विद्वान हैं ऋषि महर्षि साधक महात्मा जन हैं उनको मुक्ति का अपनी समाधि का सुख देने वाले हैं और उत्तरम उत्तरम का अर्थ है प्रलय के उपरांत विद्यमान विद्यमान प्रलय के अनंतर विद्यमान रहने वाला प्रलय के अनंतर दो तरह के पदार्थ विद्यमान रहते हैं एक तो जगत भी रहता है और ईश्वर भी रहते हैं अब इसमें थोड़ा सा होगा प्रलय के पश्चात यानी कि लेकिन ये अर्थ यहाँ नहीं लेना है यहाँ लेना है प्रलय हो जाने पर प्रलय के उत्तर जब लेंगे ना तो दोनों अर्थ निकल सकता है एक के बाद दूसरा तो वो वाला अर्थ यहाँ नहीं लेना है यहाँ लेना है प्रलय मतलब प्रलय ही हाँ प्रलय काल में संसार का प्रलय हो जाने पर प्रलय अकेले काल को नहीं लेना यहाँ प्रलय ही है ये नहीं आया समझ में प्रलय के अंतर्गत जो प्रलय काल है ना उसी में हाँ वही तो यहाँ मुख्य अर्थ होगा सृष्टि के उत्तर या तो सृष्टि के पश्चात इन्हीं प्रलय में बदल जाने के पश्चंत का अर्थ है अनुभव करते हुए देखते हुए और दूसरा मुख्य शब्द है यहाँ तमस परी हम्म, तमस का अर्थ यहाँ क्या करेंगे अज्ञान अंधकार और सीधे यहाँ पदार्थ रूप में लेंगे अर्थ वर्तमान में जो सृष्टि से संबंधित विज्ञान हो रहा है अनुभूति हो रही है ईश्वर से असंबद्ध जो भी सृष्टि के पदार्थों की अनुभूति हो रही है वही अज्ञान है यहाँ पर ईश्वर का ज्ञान नहीं होना ईश्वर के स्वरूप की अनुभूति नहीं होना इसके अतिरिक्त जो भी अनुभूति है वही अज्ञान है यहाँ व्यक्ति रूप में है चाहे जिस रूप में भी है संसार का ज्ञान अभी हो रहा है ईश्वर का नहीं हो रहा है तो यही अज्ञान है तो इससे परे हैं फिर अच्छा तो हाँ हाँ इस तमस तमस जो है तम माने अज्ञान तो ये अज्ञान क्या है हम्म, मिथ्यानुभूति नहीं लेंगे अभी अभी जो वर्तमान में सृष्टि की या जगत की अनुभूति हो रही है ना ये सब मिथ्या भी नहीं है लेकिन अज्ञान में ये आएगा तो सृष्टि से संबंधित जो भी ईश्वर से असंबद्ध होने होती हुई तो नहीं अंध हाँ ज्ञान अंधकार से परे यानी जब तक इस अनुभूति को कर रहे हैं आप ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाएंगे सृष्टि की अनुभूति जो हो रही है ना अभी ये यही अनुभूति तो ईश्वर की अनुभूति को रोक रही है तो इससे परे है वो यानी इस अनुभूति का अतिक्रमण करने के उपरांत ईश्वर की अनुभूति आएगी सामने हाँ अभी आंख बंद करके जो भी देखेंगे अंधकार भी दिखेगा और लौकिक वृत्तियां भी आएंगी संसार से सृष्टि से संबद्ध ज्ञान उठेगा ना तो जो भी अभी उठेगा ईश्वर से संबद्ध नहीं होगा ये तो इस अभी जो भी अनुभूति है वर्तमान में वो सब अज्ञान है और इससे परे यानी इसको छोड़ने के उपरांत होनी अनुभूति ईश्वर की तो ये तमसह परी का अर्थ लेना है सीधा सीधा अभी अर्थ जो हमको दिख रहा है लग रहा है इसके हटने के बाद आप अनुभव में आने वाले तमसह परी और इसी का फिर वो समर्थन करेगा उत्तरम यानी प्रलय के अनंतर होते हैं प्रलय में विद्यमान होते हैं तो इसका उपाय भी हम क्या करेंगे इसको प्रलय में बदल देंगे हाँ इस तमस को तमस से पार जाने के लिए हमारे पास ही एक उपाय अभी होगा कि जो भी अनुभूति हो रही है वो लौकिक पदार्थ कार्य हैं सारे तो उसकी अनुभूति बंद करने के लिए सबको प्रलय में बदल देना है प्रलय में बदलने के बाद अब प्रकृति रूप हो जाएगा सारा हम इससे अलग हो जाएंगे अलग होने के बाद अब ईश्वर के साथ हमारा व्याप्य व्यापक के रूप में सीधा संबंध रहेगा तो उस व्याप्य व्यापक अवस्था में अब फिर ईश्वर की अनुभूति करना यानी उसके ज्ञान को उठाना है और वो कैसा है फिर देवम देवत्रा सूर्यम ज्योति ही ये सारे रूप उनके ईश्वर के सीधे सीधे गुण जो हैं इन्हें ज्ञान स्वरूप को उठाना सद सर्वोत्कृष्ट रूप में सबसे उत्तम यानी प्रिय रूप में उठाना इन अनुभूतियों को फिर वहाँ पर उठाना तो ये क्रम रहेगा इसमें मंत्र को बोलने के उपरांत पहले ध्यान देना है अपनी सारी वृत्तियों पर अनुभूति हमको क्या हो रही है अभी तो वो अनुभूति सारी की सारी क्या है तमस है तो इस अनुभूति को बंद करना बंद करने के लिए प्रलय अवस्था में इनको बना बदल देना प्रलय के अनंतर अब ईश्वर के साथ व्यापी व्यापक भाव बनाना अपने को प्रकृति से अलग कर लेना प्रकृति को अपने से दूर कर देना इस अवस्था में अब पुनः जो अन्य विशेषण है ईश्वर के देवम यानी देवत्रा है ज्योति मतलब प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप यानी वहाँ पर अब ईश्वर की से संबंधित ज्ञान ही अपना विषय हो जाना चाहिए और वो इस रूप में होगा जैसे कि हमारा कोई आश्रय है हम्म, अभी आप देखेंगे तो अपने ज्ञान का अनुभूति का आश्रय लोक बना हुआ है हाँ, इसके सहारे से हम खड़े हैं पकड़ के एक तरह से तो लोक को अभी जैसे पकड़ के हम खड़े हैं आधार बना हुआ है ठीक यही की यही अवस्था ईश्वर के ज्ञान के विषय में होनी चाहिए वो हमारा आधार लगने लग जाए उसके आश्रय से हम हैं तो मन में जितने भी हैं लौकिक विचार जैसे जैसे शांत होते जाएंगे इच्छाएं जैसे जैसे शांत होती जाएगी एकाग्रता जो आती जाएगी उस एकाग्रता में ज्ञान विशेष उठना चाहिए और इसके उठाने के लिए दूसरा आप सहारा ले सकते हैं अशब्दम स्पर्शम अरूपम अगंध यानी ऐसा पदार्थ है जो शब्द रहित है शब्द के जैसा भी नहीं है रूप जैसा भी नहीं है स्पर्श जैसा भी नहीं है गंध जैसा भी नहीं है इन सबसे विचित्र भिन्न जो होगा वो पदार्थ है और लेकिन आलम्बन है अपना तो उस अवस्था को चित्त में बनाने का प्रयास करेंगे इस मंत्र को बोलते हुए अगनमा अनुभव करें प्राप्त करें अवस्थित हो जाए इसमें भाव में रहेगा ईश्वर के जो भी ज्ञान स्वरूप हैं प्रेरणा स्वरूप है विशेष गुण उसकी हम अनुभूति कर रहे हैं लौकिक कोई भी वृत्ति नहीं है केवल ईश्वर से संबंधित वृत्ति है इतने भाव रहेंगे बाकी शब्दार्थ जैसे हैं वो करते रहेंगे तो वो भाव आते रहेंगे क्रियाएं करने की ये चाह रहे हैं इसमें पहले अनुभूति को पकड़ना अपनी जो लौकिक है पहला काम दूसरा काम उसको प्रलय में बदल देना तीसरा फिर है ईश्वर को के लिए व्याप्य व्यापक भाव बनाना और चौथे में फिर जो गुण पढ़े हुए हैं उनको बुद्धि में प्रकट करना ये चार काम इसमें मुख्य रूप से करने के हाँ ध्यान करते हुए देखते हुए भी करेंगे इस और अगनमा अवस्थित हो जाए स्थिर हो जाए उसमें यह स्थिर हो रहे हैं ये अर्थ भी करेंगे 어, उत्तम पहले अपनी अनुभूति को पकड़ने का प्रयास करें कि हमारी अनुभूति संसार विषयक है अथवा ईश्वर विषयक है संसार विषयक है तो संसार के किस पदार्थ से संबद्ध है पृथ्वी है सूर्य है प्राणी है शरीर है स्वयं अपना शरीर है एक एक विषय को लेकर के उसको समाप्त करने का प्रयास करें बुद्धि में पीछे जो हमारी अनित्यता वाले हेतु हैं उन हेतुओं के आधार पर भी कर सकते हैं अन्यथा इनसे संबंधी जो भी बुद्धि है वो संकल्प से भी बंद कर दें हेतु पूर्वक इनको अवरुद्ध करना अधिक अच्छा रहेगा <clears throat> वयम हम लोग ना लेकर के मैं अर्थ लेंगे यहाँ पर मैं स्वयं इस कार्य को कर रहा हूँ व्याप्य व्यापक भाव बनाते समय रूप रस गंध स्पर्श शब्द की अनुभूतियां बाधक होती हैं अतः इनको ठीक प्रकार से पहचान करके बंद करने चाहिए ईश्वर के साथ हमारा व्याप्य व्यापक भाव होने पर भी स्पर्श जैसी अनुभूति नहीं होगी शब्द के समान भी नहीं होगी गंध जैसी भी नहीं होगी रूप जैसी भी नहीं होगी इसके लिए अपना ज्ञान अपना प्रयत्न अपनी इच्छा ये दृष्टांत होंगे इनके जैसी ही होगी अनुभूति हो अगनमा अवस्थित होवे इसका भाव बनाने के लिए नित्य पदार्थ का स्वरूप सामने लाएं नित्य पदार्थ अपने एक नियत स्वरूप में सतत वर्तमान रहता है उसमें किसी प्रकार की चेष्टा की कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है अपने स्वरूप से केवल विद्यमान रहता है उसके साथ समय की कोई सीमा नहीं होती है अतः उसको किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं होती है ऐसी स्थिति यहाँ पर भी व्याप्य व्यापक भाव बनाने के बाद चूँकि दोनों ही नित्य हैं अतः और कुछ करने की अपेक्षा नहीं होगी प्रयत्न की सार्थकता अनुभूति में ज्ञान आनंद की अनुभूति मात्र में होती रहेगी अन्य कोई अपेक्षा नहीं उठेगी सूर्यम का अर्थ प्रेरक स्वरूप लें ईश्वर हमें अपनी अनुभूति कराने के लिए सतत प्रेरित भी कर रहे हैं प्रेरणा करना चेतन का स्वभाव होता है यहाँ ईश्वर चेतन स्वरूप हैं ज्ञान स्वरूप होने से <clears throat> प्रेरक भी हैं हमें अपनी ओर आने के लिए अपने को जनाने के लिए प्रेरणा भी कर रहे हैं प्रार्थना के रूप में उसे स्वीकार करें हे परमात्मन आप आप मुझे अपने स्वरूप को जनाने हेतु अपने में लीन करने हेतु प्रेरित करें मेरी बहिर्मुखता को अवरुद्ध करें अपने प्रति अभिमुख बनाए आपको जानने में जो भी मेरे अज्ञान हैं बाधक हैं उनको हटा दें ज्ञान बंद हो जाने पर तत्काल मंत्र का उच्चारण करते करें विशेष ज्ञान नहीं उठता हो किसी एक शब्द पर तो पूरे मंत्र की आवृत्ति करते रहें करते रहें एक एक शब्दों पर यदि चांद चलता है तो उसे चलाते रहें ईश्वर को जानने का एकमात्र साधन ज्ञान ही है अन्य कोई नहीं है अतः ज्ञान से ही जानने का प्रयास करेंगे द्रव्यों से शरीर से मन से छू करके देख करके जानने का प्रयास नहीं करेंगे उससे संबंधी ज्ञान उत्पन्न होगा वही अनुभूति कराएगा अतः ज्ञान को ही प्रधानता दें शरीर को सीधा रखें इधर उधर नहीं हिलने दें आलस्य प्रमाद को दूर करते रहें सतत उच्चारण करते रहें उससे ज्ञान की स्थिति बनी रहेगी जब या मंत्रोच्चारण छोड़ देने पर प्रमाद की स्थिति आने लगती है उससे सतर्कता बनाए रखें बुद्धिपूर्वक अभ्यास करें उच्चारण से उठे हुए ज्ञान को पकड़ने का प्रयास करें इससे तंद्रा नहीं आएगी अन्यथा तंद्रा आएगी समय समापन की ओर है <clears throat> उपसंहार करेंगे ईश्वर का धन्यवाद करेंगे हे परम पिता परमेश्वर हे आनंद स्वरूप हे हे ज्ञान स्वरूप भगवान आपने हमें यह शरीर आदि साधन संसार आदि समस्त पदार्थ जानने अनुभव करने के लिए आप तक पहुंचाने के लिए ही आपने सिद्ध किए हैं मैं इन सब के माध्यम से आपको प्राप्त हूँ पुनरपि आपका सहयोग आपकी विशेष कृपा हमारे लिए अपेक्षित है इतदर्थ में आपकी स्तुति स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहा हूँ आप मुझे कृतार्थ की करें ऐसी ही कृपा आगे भी बनाए रखें अब तक जैसे आपने कृपा की है इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ